और भी احنا عنده في है समाज में व्यक्तियों को वस्तुओं को जो जैसी हैं उनको वैसी रहने दो अब गाय पशु जिस स्वभाव का वैसा रहने दो पक्षी जिस प्रकार से आकाश में उड़ते उड़ने दो जो कीट पतंग जहाँ जिस प्रकार समाज में है उनको जैसे संसार में है उनको जगत में है तैसे उनको रहने दो समाज में व्यक्ति जिस प्रकार के जहाँ है तहाँ उनको वैसे रहने दो बस जैसे हैं भले हैं बुरे हैं गुणी हैं दुर्गुणी हैं अनुकूल है प्रतिकूल है जैसे हैं <clears throat> वैसे रहने दो बस उनके प्रति अनासक्त भाव वैराग्य भाव डिटैचमेंट उनसे बराबर सबसे रखो <clears throat> उनको छुओ नहीं असंग रहो संस्कृत का असंग शब्द है असंग मन दूर रहो थोड़ा उनसे बस उनको स्पर्श मत करो अपने मन से भी स्पर्श मत करो उनको ये अनाशक्ति भाव उस रखो देखो एक विशेष प्रकार का ये जीवन व्यवस्था जो अपनी दर्शन है इसको अच्छी तरह से ध्यान में रख करके समझने का प्रयास करना चाहिए इसको सब उसी का वर्णन सब जगह करते रहते हैं अब भरत जी की जैसे भक्ति का है तो आप देखेंगे तो तीनों बातें इस प्रकार से मिलेंगी भगवान में परमात्मा की दृष्टि परमात्मा के एकत्व की बात भी मिलेगी जहाँ भगवान की प्रशंसा बीच महिमा प्रारंभ में कही है वहाँ आप देखेंगे तो परमात्मा का वर्णन है फिर भरत जी के हृदय में फिर बाद में आते हैं तो फिर उनके हृदय में देखो तो समत्व भाव के बात भी दिखाई देगा व्यवहार में देखेंगे तो एक भगवान से प्रेम उन्हीं के साथ उनका संबंध है और बाकी सारे जगत में अच्छा है अयोध्या का चाहे इतना बड़ा राज्य हो तो चाहे स्वर्ग से भी ज्यादा वैभवपूर्ण हो लेकिन उसको छूटे नहीं चंचरी पे जिन चंपक भागा आगे चल करके आ जाता है अभी कि जैसे कि चंचरी जैसे भवरा जो है चंपा के बाग में रहते हुए भी किसी पुष्प के पास नहीं जाता आ, ये बात इस प्रकार हाँ, ये व्यवहार की स्थिति है तो इनको सबको देखें इनमें भक्त लोग जैसे भरत जी किस प्रकार के हैं हनुमान जी किस प्रकार के हैं ये इनका जीवन दर्शन किस प्रकार से जीवन जीते हैं किस प्रकार से रहते हैं इनके सिद्धांत क्या है इनकी मान्यता क्या है उनको बार बार उनके चरित्र को पढ़ पढ़ करके सुन सुन करके चित्र में धारण करने के प्रयास करें क्योंकि पूर्व धारणाएं हमारी हैं जो समाज ने हमको दी हैं और हमारी बुद्धि में वो धारणाएं भरी हुई हैं उन सबको निकालना और उसके स्थान में शास्त्र मत लाओ लोक मत को एक किनारे हटा करके शास्त्र मत को अपने चित्र में स्थापित करो और जो शास्त्र मत है वही अपना मत है ऐसा बना दो और उस मत से ही फिर अपना जीवन चले हाँ? ये मत देखो कि लोग ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं ऐसा करते हैं वैसा करते हैं को क्या कहता क्या कहता उससे मतलब तो कहते हैं ये फिर <clears throat> मनम सरात भरत बायत भगत की महिमा घनी और कहते हैं भरत ही प्रशंसा भर सत सुमन मानस मलिन से और ये देवता लोग भी भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं भरत ही प्रशंसा विभुद देवता लोग भी भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं और बरसत सुमन फूल भी बरसाते हैं लेकिन है क्या उनके साथ मानस मलिन से लेकिन उनके मन की दशा क्या है उनका मन मलिन है अब ये देखो ये मन इंद्र आदि में वो भक्ति भाव जैसी भरत की है उस प्रकार से नहीं इनका इंद्र का मन मलिन क्यों है ऊंच निवास नीच करतूती दूसरी जगह ऐसे कहते हैं ऊंच निवास बास स्वर्ग में तो बास करते हैं और इंद्र होकर के राजा बन करके रहते हैं लेकिन उनके कार्य जितने हैं वो निम्न प्रकार के छल प्रपंच ये सब उनका जो है वो उनके साथ में स्वार्थ उनका अपना अपने साथ में ये सब इस प्रकार के लोग आगे चल करके देखते हैं कि तुलसीदास जी ने जिनके ये इंद्र आदि जो देवता है इंद्र और उनसे नीचे के जो देवता हैं उन सबकी उनमें क्या क्या दोष हैं कैसे कैसे निंदनीय है उनका सबका वर्णन किया और उसका भी एक प्रयोजन है तुलसीदास जी ऐसा क्यों करते हैं देखो आगे आता है ये ये कैसे मलिन है देवता ये आगे स्पष्ट हो जाएगा इसलिए ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं तुलसी बिकल सब लोग सुन सकुचे निशागम नलिन से <clears throat> सब लोग हैं वो सब सभा के सभी लोग हैं वो संकोच में उस समय पड़े हुए हैं जैसे कि निशागम नलिन से जैसे संध्या काल होने लगे तो सूर्य डूबने लगता है संध्या काल होने लगती है तो कमल जो है वो सिको करके कली बनने लगता है तो जैसे कि वो कमल जैसे संध्या काल में सब जाने लगता है ऐसे सभी लोग संकोच में पड़े हुए हैं अब इन सब लोगों का संकोच क्या है वो भी आगे बताते हैं कि <clears throat> इस एक ओर तो भगवान श्री राम जी का प्रेम है और दूसरी ओर इंद्र की फैलाई हुई माया है जो सब लोगों के मन के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही है उसका भी वर्णन तो उसी आगे करते हैं देख दुखारी दीन दुह समाज नर नार सब हम्म, अब कहते हैं कि देखो दोनों समाज में मैंने जनकपुर से जो आए हुए हैं अयोध्या से जो आए हुए हैं इन दोनों समाज के जितने भी लोग हैं वो इस समय बड़े ही दीन हैं और बड़े ही दुखी हैं नर नार सब सब स्त्री पुरुष सभी दुखी हैं क्यों सब दुखी हैं इंद्र ने इनको सबको दुखी बना रखा अपनी माया फैला करके <clears throat> तो क्या कहते हैं कि मघवा महामलिन मघवा माने इंद्र इंद्र जो है देखो ये इंद्र की मलिनता है कि उसने मुए मार मंगल चाहत तो वे मरे हुए को भी मार करके मंगल चाहता है हम्म। अब वैसे तो कोई व्यक्ति शत्रुता किसी से हो फिर आमने सामने किसी से युद्ध हो और युद्ध में किसी व्यक्ति को शक्तिशाली व्यक्ति से कोई युद्ध करे और उसको मार दे कहा तक तो वो ठीक बात है कि भाई बड़े शक्तिशाली को तुमने मार दिया उससे बड़ा तुमने युद्ध किया बड़े वीर हो वहां तो प्रशंसा हो सकती है लेकिन अगर कोई व्यक्ति हम्म, एक किसी दुर्बल स्त्री को मार दे तो उसमें कौन सी उसकी पुरुषार्थ की बड़ी वीरता की बात है किसी बच्चे को मार दे तो कौन पुरुषार्थ की बात है या कोई व्यक्ति ऐसा हो हा? कि जिस जो कि घायल पड़ा हो या बीमार पड़ा हो स्वयं उठ न सकता हो चल फिर न सकता हो और एक बहादुर व्यक्ति आ उसको मार डाले तो क्या संवाद है हाँ, तो ये तो निंदा की बात होती है हा? तो ये ऐसे इंद्र का काम जो है उल्टा काम है मुड़े मार मंगल चाहत मुड़े माने मरे हुए को मरे हुए को मार करके मंगल चाहता है तो ऐसी तो सब मरे हुए के माने ये है ये सब लोग भगवान के प्रेम में वैसे ही बड़े विफल हो रहे हैं और उसके कारण से उनका हृदय बड़ा ही स्पंदित हो रहा है और उस समय ये इंद्र जो उनके मन में उचाट पैदा कर रहा है उनके मन में भय उत्पन्न कर रहा है सोच उत्पन्न कर रहा है अपने अपने घरों की याद दिलवा रहा है ये सब जो कर रहा है ये सब जो है उनके लिए और भी घातक है इसके कारण से ये दोनों समाज के लोग बहुत दुखी हैं दोनों प्रकार से अब आगे बताते हैं कि देखो इंद्र की क्या करतूत है और उसका प्रभाव लोगों के ऊपर क्या पड़ता है आगे वर्णन करते हैं कपट कुचाल सिंह सुर राजो अरे काज प्रिय आपन काजो काक समान पाकि रूप रीति छली मलिन कतहु न प्रतीति कम कुमत करी कपट सकेला तो चाट सबके सिर मेला सब लोग विमोए राम प्रेम अतिशय न बिछोए चाट बस मन फिर नाही छन बन रुचि छन सदन सुहाई दुविधि मनोगति प्रजा दुखारी सरित सिंधु संगम बारी रुचि कतहु परितोष न नाही एक एक सन मरम न काही लखिए हस कहे कृपा निधानो सरिस स्वान मधवान जवानो भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाय माया सब जथा जोग जन पाए श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय कपट कुशाल सिंह सुरराजू अब सुरराज में इंद्र जय वो हो अब इंद्र के दोष बताते हैं देखो क्या क्या दोष है इंद्र कपटी है कुछ आदि है और इन दोनों की सीमा है मन मतलब बहुत अधिक बहुत अधिक कपटी है बहुत अधिक कुछ आदि और पर अकाज और दूसरे के दूसरे का काम भी बिगाड़ने वाले हैं और प्रिय अपन का जो और अपना काम बने मन स्वार्थी है अपना काम बनाने में लगे इतने तो ये दोष हुए और फिर कहते हैं कि काक समान पाकृत रीति और क्या है पाकृत तो भी इंद्र है पाक नाम का एक निशाचर था उससे युद्ध किया था इंद्र ने उसको मारा था छल के द्वारा उसे मारा था <clears throat> तो वो पाकरिप कहलाते हैं और काक तो समान पाकरिप रीति की जैसे कि कौवा हो ऐसे कौवे के समान इंद्र है उनमें क्या है कि छली मली निकटऊ न प्रती जैसे कौवा कहीं विश्वास नहीं करता ऐसे इंद्र को भी कहीं किसी पर विश्वास नहीं है और छल करने वाले मलिन बुद्धि के ऊपर जैसे कहा था मघुआ महामलिन <clears throat> वो मार मंगल साथ ऐसी फिर ये कहते हैं छली मलिन ये सब मलिनता उसकी यही है इतने दोष जो है उसके इंद्र के ये सब उसके मन की मलिनता है छल भी इंद्र के मन की मलिनता है कपट पुचाप स्वार्थ ये सब मन की मलिनता है जो इंद्र में देखने में आती है इंद्र की जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें देखते हैं कि ये सब देखने में आता है वर्णन आता है जगह जगह इंद्र छल भी करते हैं कपट भी करते हैं कुचाल भी करते हैं है हाँ, ऐसे करके जो है ये हम्म। <clears throat> इंद्र ही की कथा अहिल्या के संबंध में भी है और उनको राक्षसों को मारने में जहाँ कहीं है उनसे प्याल छल करने में है तो कहीं कपट की बातें हैं कहीं छल की बातें हैं कुशाल भी है आ, हाँ, ये भी दिखाते हैं इंद्र के उसमें ही सब पर आज दूसरे का काम बिगड़ता है तो उनको कोई परवाह नहीं अपना स्वार्थ बनना चाहिए ये सब दिखाई देता है अब ये देखते हैं वैसे तो पौराणिक रूप से ये है इंद्र है देवताओं के राजा है वो है लेकिन अपने अंदर देखो तो इंद्रियों का जो स्वामी अपना मन है ये मन हम्म, <coughs> इसी मन का प्रतीक है इंद्र लेकिन मन के कई प्रतीक हैं मन का एक मैं दानव भी प्रतीक है मन का प्रतीक नारद भी है, है? हाँ? तो लेकिन मन जब भगवान का भक्त होता है ज्ञानमान है भगवान में भक्त है तब तो वो मन नारद है और जब मन निशाचरी स्वभाव का है दूसरे व्यक्तियों को कष्ट पीड़ा देने में ही सुख का अनुभव करता है हम्म, <clears throat> तो वो समय मैदानों के समान है और जब मन हाँ, इंद्रिय भोगों में लिप्त है लेकिन धर्म धर्मपरायण है तब वो जो मन है वो हो केवल धर्म में ही स्थित है और इंद्रिय भोगों में लिप्त है भौतिक सुख ही चाहता है धर्मानुकूल भौतिक सुख चाहता है तब तक वो मन इंद्र के समान है तो आप देखो जो भौतिक सुख व्यक्ति चाहते हैं उनके साथ में ये दुर्गुण उनके फिर भी रहते हैं धर्म में जीवन जीते हैं कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं उस प्रकार करते हैं लेकिन फिर भी उनके साथ में दोष दुर्गुण आते रहते हैं कपट छल इत्यादि यदि भी धर्म के अंतर्गत नहीं आते लेकिन फिर भी <clears throat> ये <clears throat> स्वर्ग प्राप्त करने के बाद में जिन लोगों ने पुण्य कार्य किए उनको स्वर्ग प्राप्त होगा अब जो पुण्य कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको भी वे उनके साथ में भी धर्म के साथ में व्यक्तियों के अधर्म भी लगा रहता है और तो दोष भी लगे रहते हैं दुर्गुण भी लगे रहते हैं वो सब छूट नहीं जाते हैं स्वर्ग तक जाते जाते व्यक्ति के जीव के सभी दुर्गुण छूट जाते हैं उसे छूट नहीं जाते हैं इसलिए कहते हैं काक समान पाकर प्रीति छली मलिन कटव न प्रतीति किसी से अब कौवा जैसे है अगर कौवा आवे तो देखें कौवा खा रहा है इधर उधर कुछ आप अगर रोटी का एक टुकड़ा लेकर के कौवे को खाने के लिए डाल दो उसके ऊपर तो कौवा क्या करेगा कि तो दौड़ करके रोटी का टुकड़ा उठाएगा नहीं आप करके देखो वो समझेगा कि हमारे ऊपर पत्थर फेंका गया है असमर्थ हो जाएगा रोटी का टुकड़ा आकर पड़ा रहेगा क्या तो बहुत चाला विश्वास नहीं कि आप रोटी के टुकड़ा उसे कभी कभी देंगे मान ही नहीं सकता होगा तो ऐसे करके ये छली मलिन कटव न प्रतीति कहीं से विश्वास नहीं और प्रथम को मत करे कपट सकेला अब देखो इसी इंद्र ने पहले क्या किया था जो कुमत करे सकेला उसने दुर्बुद्धि की इसका पहले वर्णन कर चुके हैं सब देवताओं ने मंत्रणा की और विचार करके कपट किया कि इन सबके मन में उचाट उत्पन्न किया जाए जितने लोग अयोध्यावासी वगैरह सब आए हैं इनको सबको यहाँ से भगाओ सबको घर अच्छा अपना लगने लगे यहाँ अच्छा न लगे बन में रहना ऐसी भावना इनके पैदा कर दो तो सब लोगों को अपना अपना घर अच्छा लगने लगा और घर की तरफ भागने लगे तो विचार करने लगे तो ये इस प्रकार का उनको उनके अंदर जो वो प्रथम को मत कर कपट सकेला सो उचाट सबके सर मेला और उसके द्वारा उचाट उनके अंदर में पैदा कर दिया उचाट के माने चित्रकूट छोड़ो चलो घर ये उचाट की बात है तो सो उचाट सबके सर मेला और सुर माया सब लोग विमोहे आप कहते हैं उस देव, उस देवताओं की माया से इंद्र और सब देवता जिन्होंने ये सब कपट किया था उनके कारण सब लोग मोह में पड़ गए लेकिन सब लोगों का क्या तात्पर्य है इसके मैंने मोह में पड़ गए सो बात नहीं है वशिष्ठ जी मोह में पड़ गए उससे बात नहीं है सब कहते हैं सुर माया सब लोग विमोहे राम प्रेम अतिशय न बिछोहे लेकिन कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि सुर माया ने अपनी चाहे इतना अपनी माया दिखाई हो लेकिन भगवान का प्रेम बिल्कुल छूट गया हो सो तो नहीं तो अब क्या दशा हुई एक और भगवान का प्रेम भी है उनके निकट भी रहना चाहते हैं और दूसरी ओर फिर माया के कारण से उचाट भी उत्पन्न हुआ और घर भी अच्छा लगने लगा घर चलने की भी सोचने लगे अब दोनों बातें भगवान का एक और प्रेम भी है एक और जो है घर भी अच्छा लगता है दोनों की द्वंद की स्थिति अब मन में पैदा हो गई लोगों के तो भय उचाट बस मन फिर नही तो एक और तो ये सब जो है वो अतिशय न बिछोड़े भगवान का प्रेम ज्यादा दूर नहीं हुआ और दूसरी तरफ उचाट हो गया तो मन स्थिर नहीं कभी इधर कभी उधर और छन बन रुचि छन सदन सुहाई क्षण भर में तो ये अच्छा लगता है भगवान राम के पास है भगवान का प्रेम कैसा प्राप्त है यहाँ कितना अच्छा थोड़ी देर में लगता है अरे बहुत रह लिए अब घर भी चलना चाहिए पता नहीं घर की क्या दशा है वहाँ कौन क्या कर रहा है वहाँ कैसा क्या पड़ा हुआ घर भी देखना चाहिए तो घर की तरफ भी ध्यान आने लगा छन बन रुचि छन सदन सुहाई दुविध प्रजा दुविध मनोगत प्रजा दुखारी कहते हैं इस प्रकार से मनोगत दुविध मन की दशा दो प्रकार की और प्रजा दुखारी उसमें सब प्रजा दुखी है सबके सब लोग जितने आए लोग हैं वो सब स्थान में सब लोग दुखी हो रहे हैं सरित सिंह सरित सिंधु संगम जनबारी और उनके मन की दशा कैसी हो रही है उसका उदाहरण देकर के दिखाते हैं जैसे कोई नदी जाकर के समुद्र में मिले तो उस समय जब नदी का और समुद्र का जब संगम होता है तो जल की दशा क्या होती है एक और तो नदी का जल आकर के समुद्र के भीतर घुसता है तो खतेड़ा लगता है तो वहां तक पानी बहता हुआ चला जाता है हेला उसमें लगता है समुद्र के भीतर तक लेकिन वो शक्ति जब कम पड़ती है पानी की तब उधर से समुद्र का पानी जब वो भारी पड़ता है तो वो दबाव मारता है अपना तो नदी के उसकी तरफ नदी के पानी की तरफ हिलोर होती चली जाती है और नदी का पानी जो है पीछे की तरफ हटका चला जाता है हटका चला जाता है तो ये जिस प्रकार की दशा हो नदी के और समुद्र के मिलने की दशा जब दोनों मिल को देखो कैसे होती है बस ऐसी दशा इन सब लोगों की है इनका मन कभी एक और अपने घरों की तरफ जाता है और दूसरी ओर लौट करके आता है तो फिर बन की तरफ तो भगवान राम के पास रहने का मन करता है ये लोरेंस प्रकार के आ रहे हैं तो दुचित कटों पर तो न लाई अब इस अवस्था को कहते हैं ये अवस्था कोई सुखद अवस्था नहीं ये कहते दुचित कटों पर तो न लाई ये दुचित तो हो गए मैंने दो तरफ मन हो गया और उसके कारण से उनको संतोष नहीं होता शांति विश्राम नहीं मिलती उनको एक एक सन मरम न कहा लेकिन अपने मन की इस दशा का वर्णन दूसरे से नहीं करते अपने मन में अपने मन में अगर घर अच्छा लगता है तो अपने मन में उसको सोच लेते हैं और रह जाते हैं दूसरे से कहते नहीं है कि आप ये नहीं कहते कि आप भाई बहुत दिन हो गया अब चलो अब घर चलना चाहिए हमारा तो मन करता है घर चले तो क्यों नहीं कहते ऐसा दूसरे लोगों से अरे कहेंगे दूसरे लोग सुनेंगे तो कहेंगे बाप भाई इसी तुम यहाँ दौड़े आए यहाँ तक अब तुम्हें घर अच्छा लगने लगा भगवान के पास रहते हो यहाँ क्या आनंद है तुमको घर अच्छा लगने लगा तो लोग हंसेंगे इस प्रकार को पास करेंगे इसलिए दूसरे से कहते नहीं है एक एक सन मरम न कहाई अपने मन की बात बोलते नहीं ये भी नहीं कहते हमारे मन में बड़ा दुख है अशांति है उसे व्याकुलता हमको लग रही है उस व्याकुलता की बात भी नहीं कहते तो कहते लख ही हंस कहे कृपा ने धानु लेकिन भगवान तो सब जानते हैं बात यह है कि भगवान तो वो परम परमात्मा वो चेतन सत्ता ये मैं समझा भगवान बैठे एक मनुष्य बैठा हुआ है भगवान के साथ उनको ये देखो कि परम परमात्मा तो सबके हृदय में जो चेतना है वही परमात्मा है सबकी बुद्धि वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला कोई वही है अगर हमारे मन में दुविधा आती है कभी इधर का भाव आता है कभी उधर आता है तो ये दोनों प्रकार की जो वृत्तियां आती हैं इन ये वृत्तियां प्रकाशित किससे होती हैं इन वृत्तियों का ज्ञान किस चेतना में होता है जिस चेतना में होता है वो तो परमात्मा ही है तो परमात्मा से हमारे मनोवृत्तियां कहाँ छिपी हुई है वो तो स्वयं प्रकाशित ही कर रहा है तो इसलिए हमारे मन में जिस प्रकार की स्थितियां आती हैं वो सब प्रकाशित कर रहा है जान रहा है तो भगवान सब जान रहे हैं लोगों के मन की दशा क्या है कैसी दुविध स्थिति लोगों की हो गई है दूषित हो गए हैं तो लगे ये हंस कहे कृपा निधान तो भगवान ने जब वो सब देखा सब लोगों के आंतरिक स्थिति को तो हंस कहे कृपा निधान कृपा निधान भगवान ने हंस करके अपने मन में इस प्रकार से कहा अब देखो भगवान क्या करते हैं अब ये भगवान ऐसा नहीं करते हैं कि इंद्र ने सबके मन में जो उचाट उत्पन्न कर दिया है तो भगवान चाहे तो अपनी माया के द्वारा उस उचाट को दूर कर दे ऐसा नहीं करते अब क्यों नहीं करते अब सब विचार करने की अपनी अपनी बात है ध्यान देंगे तो देखेंगे कि भगवान जो इंद्र जो कर रहा है वो कर रहा है और भगवान जो कुछ हो रहा है उसको सब समझते हैं कि एक विधान एक प्रकृति एक नियम चल रहा है उसी से आगे होता जा रहा है सब अच्छा ही है आगे देखते हैं ये उचाट भी अयोध्या वासियों के लिए जनकपुर वासियों के लिए अच्छा ही सिद्ध हुआ कोई बुरा नहीं है हाथ इस समय दुख लग रहा है लेकिन ये कारगर होता है उपयोगी सिद्ध होता है तो भगवान उनको उस अवस्था को देख करके हंसते हैं कि देखो इंद्र की कर्मी को इंद्र ने इनके सबके मन में उत्साह उत्पन्न कर दिया इसमें वो अपना स्वार्थ रहता है समझता है कि इससे हमारा काम बनेगा इसलिए ऐसे समझ रहा है वो तो इंद्र की ये नादानी ना समझी उसको देख करके भगवान हंसते हैं लेकिन इंद्र आदि देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की और उन्हीं की प्रार्थना को पूरा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया तो भगवान इंद्र पर भी नाराज नहीं हम्म? उनका काम फिर भी पूरा उन्हें करना है तो ऐसे उदार भाव भगवान का इसलिए कहते हैं कृपा निधान भगवान को कहते हैं माने कृपा निधान इसलिए यज्ञ में भगवान के भक्तों के ऊपर इंद्र ने माया फैलाई लेकिन भगवान फिर भी जो है उससे इंद्र से नाराज नहीं होते ये उनकी कृपा की बात है लक ही हसी कहे कृपा निधानु सरिस स्वान भगवान जुवानु भगवान हंस करके कहते हैं देखो ये इंद्र भी जैसे कुत्ते हों और युवा हो उसी प्रकार के है हम्म। ये असल में बात ये है कि पाणिन की जो व्याकरण संस्कृत की है उस व्याकरण के अनुसार ये तीन शब्द एक ही प्रकार के हैं स्वान भगवान युवान ये तीन शब्द हैं वान वान करके बाद में आता है ये तीनों शब्द में अंत में तीनों शब्द एक प्रकार के और तीनों के जो रूप चलते हैं वो एक समान चलते हैं अंत में अन आता है युवान अन मघवान में अन युवान में अन जो बाद में जो अन आता है तो अन के कारण से इन तीनों शब्दों के जो रूप चलते हैं जैसे रामा रामो रामा बालका बालको बालका इत्यादि ये रूप जो चलते हैं इन तीनों के एक समान चलते हैं तो पारण ने कहा कि इन तीनों के रूप एक समान चलेंगे इसलिए एक समान तीनों है तो भगवान ने तो पान ने तो कहा था कि रूप चलने की बजाय तो एक से चलेंगे भगवान ने कहा ये तीनों एक प्रकार स्वभाव से भी एक से जैसा कोई कुत्ता तैसे इंद्र और तैसे युवा ये तीनों एक ही से होते हैं स्वभाव हम्म। जैसे कुत्ता जो है वो हो बस विषय भोगों में खाने पीने में इंद्रिय भोगों में ही लिप्त जैसे कुत्ता रहे तो जैसे कोई इंद्रिय भोगों में ज्यादा लिप्त होता है तो कुकर सुकर का दृष्टान देते हैं देखो जैसे कोई कुकर सुकर हो ऐसे इंद्रिय भोगों में लिप्त रहने वाले हैं हाँ? <clears throat> युवा व्यक्ति जब युवा का युवापन का जब नशा चढ़े उस व्यक्ति को तो वो भी सुकर की तरह से वो विषय भोगम उसी प्रकार से कुकर सुकर की तरह से लिप्त होगा तो वो भी दोनों एक समान हो गए और कहते हैं यही दशा इसकी भी इंद्र की भी है इंद्र भी उसी प्रकार से स्वार्थी और जैसे कुत्ता तैसे इंद्र भी अब ये कुत्ते के इंद्र की जो तुलना जो है वो हो यहाँ दूसरे प्रकार से देखो तुलसीदास ने उसका कुत्ते से दृष्टांत इंद्र का दे दिया लेकिन बालकांड में जब देखेंगे तो नारद मोह की जहाँ कथा आती है तो उसे प्रारंभ में ही जहाँ नारद जी ने बड़ा तप किया भगवान का ध्यान इत्यादि किया तो इंद्र बड़ा व्याकुल उठा और उसने फिर वहां से काम को इनके समाज को भंग करने के लिए भेजा वहां पर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि देखो सुख हाल लय भाग सख स्वान निरख मृगराज उसका उदाहरण देते हैं जैसे कोई एक कुत्ते ने सूखी हड्डी गई कुत्ते को मिल गई और सूखी हड्डी लेकर के कुत्ता उसको अपने बैठा हुआ चटो रहा था और कुत्ते ने देखा कि एक सिंह आ रहा है तो उसने कुत्ते ने क्या सोचा कि कहीं सिंह ये हमारी सूखी हड्डी में छीन ले है फल्ले हड्डी भागे तो जैसे कुत्ते की ये का विचार है ऐसे ही इंद्र का भी है इंद्र के पास है क्या स्वर्ग एक मिथ्या स्वर्ग लोक है उसका राज्य से प्राप्त है और उसका स्वर्ग का राज्य इंद्र के लिए कुत्ते के मुंह में सूखी हड्डी के समान है उसमें कोई तात्पर्य सार उसमें कुछ भी नहीं हम्म। ये जो वास्तव में ज्ञान और भक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो असली आनंद है हा? लेकिन कोई व्यक्ति जो इंद्रिय भोगों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति हैं वो ये सोचें कि ये ज्ञानी लोग ये भक्त लोग हमारे इसको वैभव को हमारे धन संपत्ति को छीनना चाहते हैं ऐसे सोचने लगे तो ये वैसे ही बात है जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को लिए बैठा हो और सिंह को समझे कि सिंह कहीं ना छीन ले सिंह सूखी हड्डी लेने आएगा हाँ। अरे सिंह तो मरे हुए पशुओं को जो अपने आप मरे पड़े उनको भी नहीं खाता सिंह का तो यह है कि अपने पुरुषार्थ से स्वयं जीवित हिरण इत्यादि को प्राणियों मारेगा और मार करके तब खाएगा ताजा ताजा और एक बार खा करके चला जाएगा बच जाएगा तो दोबारा से खाने नहीं आएगा ऐसा पशु क्या जो है सुखेटी खाएगा कुत्ते की बस यही अंतर जो स्वान का है स्वान के समान इंद्र है स्वान जैसे सूखी हड्डी लिए बैठा हो वैसे इंद्र भी इसी प्रकार से जो है सूखी हड्डी जैसा लिए हुए स्वर्ग बैठा हुआ है मैंने स्वर्ग का कोई मूल्य नहीं है दरअसल में जहाँ हम देखते हैं ज्ञान और भक्ति के परमार्थ की दृष्टि जब देखने लगते हैं अरे संसार के इन भौतिक इस इस इस जगत के मृत लोग के सुखों की तो बात ही क्या इससे हजारों गुना जो स्वर्ग का सुख है वो भी तुच्छ है कुछ अर्थ नहीं है सुखी हड्डी के समान वो भी है और सूखी हड्डी के पीछे भी एक बड़ा अच्छा रास उसके पीछे दृष्टान्त बहुत ठीक बैठता है <clears throat> जैसे कुत्ता सूखी हड्डी से चोड़ता है तो उसमें क्या स्वाद मिलता है उसे सूखी हड्डी का स्वाद नहीं मिलता है वो हड्डी उसी के मुंह में चुभ जाती है और उसके गड़पड़ों से जीव से कहीं से वही खून उसके अपने आप निकलने लगता है और उसी खून को वो चूसता है समझता है हड्डी से आ रहा है बस ऐसे ही अज्ञानी संसारी व्यक्ति विषय भोगों में जब लिप्त होते हैं तो उनकी भी बुद्धि ऐसी ही होती है वो समझते हैं जिन विषय भोगों को हम भोग रहे हैं इनसे हमें सुख प्राप्त हो रहा है दर्शन में उनसे सुख प्राप्त नहीं होता सुख तो व्यक्ति के आत्मा में परमात्मा को उसके भीतर छिपा हुआ है वही आकर के उसको प्राप्त होता है सुख उसी को प्राप्त कर रहा है लेकिन समझता है संसार के विषय भोगों को हम भोग रहे हैं और वो सुख हमको दे रहे हैं जैसे कुत्ता ज्ञानी है पशु है तैसे तो संसार के व्यक्ति भी अज्ञानी है पशु के समान है उनको इतनी समझ नहीं कि हम सुख भोग रहे हैं किसका सुख है विषयों का सुख है कि हमारे अंदर का सुख है इसलिए कहते हैं भगवान हंसते के देखो इंद्र की दशा ये है लखी कहे हसी पे कृपा निधानु सरित स्वान भगवान जुवानु और कहते हैं भरत सज, भरत जनक मुनिजन सचिव साधु समेत बिहार अब देखो इंद्र की माया ने किसके ऊपर प्रभाव छोड़ा इनको बिहार में छोड़ करके मन भरत को छोड़ करके जनक जी को छोड़ करके मुनिजन में सब आ गए वशिष्ठ जी आ गए विश्वामित्र आ गए आदि आ गए जितने मुनिजन आ गए सचिव आ गए इसमें सुमंत्रादि मंत्री आ गए और भी जो साधु के साधु समाज में आए थे इन सबको छोड़ क्यों सचेत बिहार क्योंकि ये सब सचेत थे सचेत के माने ये सब ज्ञान और भक्ति के कारण से प्रबुद्ध थे इनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ा माया का प्रभाव अचेत व्यक्तियों पर पड़ता है माने जिनकी बुद्धि जागृत नहीं है जो मोह की रात्र में सो रहे हैं उनके ऊपर माया का प्रभाव पड़ता है हम्म? यदि बुद्धि जागृत है उसको पता है सत्य क्या है सत्य क्या है और सत्य के प्रति सावधान है व्यक्ति और मिथ्या दिखाई देता है जगत और प्रपंच चाहे स्वर्ग आदि का सब मिथ्या दिखाई देता है उसके ऊपर माया का प्रभाव पड़े तो क्या पड़े उसके ऊपर ठीक है लाग देव माया सब ही इतने को छोड़ करके सबको देव माया लगी <clears throat> मैंने उनके ऊपर सबका देव माया का प्रभाव पड़ा सबके मन में उच्चाटन आया लेकिन वो भी कहते हैं सबके ऊपर एक समान नहीं लगी तो ये भी बात बतानी पड़ती है कि लाग देव माया ही जथा जोग जन जाय पाए जैसा यथा योग के पन से पा करके योग माया इंद्र की माया लगी अब मैंने उनमें भी अब इनको तो गिना दिया इनको तो लगी नहीं लेकिन इनके बाद जो और व्यक्ति थे उनको तो व्यक्तियों में से थोड़ा भक्ति ज्ञान जिनमें की थोड़ा कम था तो उनमें योग माया लगनी शुरू उनकी जो है ये माया जो इंद्र माया उनको लगना शुरू हो गई और फिर व्यक्ति जितना ही अधिक संसारी था जितना ही अधिक भौतिकवादी था जितना ही अधिक भगवान से विमुख था उसको माया बहुत ज्यादा लग गई तो माया का लगना भी सबको एक समान नहीं लगता यही बात संसार में भी है संसार में जो ये कहेंगे अब माया का प्रभाव तो संसार में सब जगह है लेकिन इसी संसार में ज्ञानी और भक्त लोग भी रहते हैं और कोई व्यक्ति समझे कि उनके ऊपर भी उतनी ही माया लगी हुई है तो ऐसा नहीं होता वो तो माया मुक्त हो गए माया से परे निकल गए भगवान की कृपा से उनके शरण में चले गए भगवान उनकी माया से रक्षा करता लेकिन बाकी और जो लोग हैं वो वे भी जितनी उनमें धर्म है जितना उनमें प्रसाद है जितने उनमें भक्ति है जितना ज्ञान है उसके अनुसार ही उनमें माया का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है माया का प्रभाव संसार में पड़ता है सबके ऊपर पड़ता है लेकिन कम ज्यादा पड़ता है एक समान नहीं पड़ता एक व्यक्ति माया में ऐसा पड़ जाता है कि बस उसको कुछ होश ही नहीं आता कभी नहीं आता एक व्यक्ति माया में पड़ता जिस समय माया का प्रकोप होता है उस समय तो माया में पड़ जाता है लेकिन बाद में पछताता है कि देखो हमने क्या किया कैसे माया जाल में फंस गए तो इस प्रकार चेतना आ जाती बाद में तो एक ऐसे भी व्यक्ति होते हैं हम्म। एक ऐसे भी व्यक्ति होते माया में पड़ते हैं तो भी जानते हैं कि हाँ इस समय माया में पड़े जा रहे हैं माया पड़ जाना अच्छा नहीं है उस समय भी होश थोड़ा बहुत बना रहता लेकिन फिर भी माया दबा लेती तो कई प्रकार के व्यक्ति इस प्रकार जिनके ऊपर माया का प्रभाव पड़ता है अनेक प्रकार के व्यक्ति इस प्रकार के हैं तो ये जो इस समय जो उच्चाट की बात कर रहे हैं ये भी समस्त आध्यात्मिक साधन माने हम सब व्यक्तियों के साधकों की दृष्टि के लिए है कि एक और तो व्यक्ति भगवान की भक्ति के लिए आगे बढ़ता है ज्ञान के लिए आगे बढ़ता है और दूसरी ओर व्यक्ति के ऊपर जीवों के ऊपर माया का प्रभाव पड़ता है और माया प्रभाव कैसे डालता है ये हमारा मन ही हमारे ऊपर प्रभाव डालता है मन ही बोलने लगता है कहने लगता है कि अरे संसार के विषय भोग भी तो सुखदायी है भगवान की भक्ति में लगे रहे सबको छोड़ दें पता नहीं सारी जिंदगी में ये विषय भोग भी छोड़ दिए भगवान की भक्ति में भगवान भी नहीं मिले उनका ज्ञान भी नहीं हुआ मुक्ति भी नहीं मिली तो दोनों ही गए माया मिली न राम ऐसे समाज में बहुत कहते हैं लोग माया मिली न राम न माया का सुख मिला न भगवान राम मिले कहीं ऐसा न हो सारी जिंदगी भी ऐसे दुविधा में लोग भाग रहते हैं बहुत बार उनके ऊपर इस माया का प्रभाव ऐसे लोगों को पड़ता रहता है और दुख में पड़े रहते हैं नान्या स्पृहार रूपते हृदय सुमदीए सत्यं बदा च भवान् भक्ति भक्तिं प्रयच्छ निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय राम